और उनमें से जो कहता है कि बिलाशुबा अल्लाह ताला के सिवा मैं मबूद हूँ तो उसी को हम जहन्नुम की सज़ा देंगे जालिमों को हम ऐसे ही बदला दिया करते हैं